भी करेंगे और दूसरी निंदा भी करेंगे अच्छे से माने वो संकोच नहीं आता उनको हाँ? का एक और हम आदर सत्कार कर रहे हैं दूसरी निंदा भी कर रहे हैं तो ऐसे इसलिए जो है ये है ये पाप कर्म है सफलता अब कहते हैं कि देखो मानस रोग सुनो हम आपका तो मानस रोगा तिनते दुख नहीं सब लोगा जैसे आप देखो मानस रोगों का वर्णन बताते हैं तुमने पूछा कि मानस रोग हमको समझा करके बताओ तो समझाते हैं मानस रोग को अच्छी तरह से कहते मानस रोग ऐसे हैं जिनसे कि सबको हम्म, सबको दुख होता है जिनसे दुख सामने सब होगा जिसके भी मानस रोग होगा वो दुखी जरूर होगा जैसे शरीर में किसी को रोग होता है वैसे ही शरीर में रोग होता है तो किसी को सुख थोड़ा देता है तो उसे कष्ट लगेगा दुखी होगा परेशान होगा शारीरिक रोग इसी प्रकार से मानस रोग है वो भी व्यक्ति को दुख देते हैं मानस रोग के अच्छे अच्छे चिन्ह नहीं कहने के बात करेंगे बल्कि अध्यात्म शास्त्र के अनुसार संसार में दुख का अगर कोई कारण है तो क्या है मानस रोग दुख का कारण दुनिया नहीं है चंद्र तो नक्षत्रकारी नहीं है दुख का कारण कोई संसार में इतने हजारों करोड़ों व्यक्ति है वो दुख के कारण है दुख के कारण जीव जंतु इतने संसार देवता इत्यादि ये सब नक्षत्र कार्य ये व्यक्ति के कारण नहीं है दुख के कारण व्यक्ति का मुख है अपने ही मानस रूप और मानस रूप पैदा कैसे हुए व्यक्ति ने अपने पाप करने से मानस रूप पैदा किए इसलिए बताते हैं कि देखो मानस रूप कैसे पैदा होते हैं कि मोह सकल व्याधि मिला समस्त जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो सब मोह के कारण होते हैं वही समस्त मानस रोग उत्पन्न करता अब इनमें जो शारीरिक रोगों के संबंध में जितने ही जानता होगा व्यक्ति मानस रोगों को उतने अच्छा समझ सकता है शारीरिक क्यों होते हैं तो शास्त्रों में अपने कहा गया है कि शारीरिक रोग होते हैं प्रज्ञा अपराध के कारण लज्जा जो हो उसके कारण शारीरिक रोग लगते हैं लज्जा अपराध क्या है लज्जा मन ज्ञान बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि जो हो उसका अपराध के मन क्या है हमारी प्रज्ञा ये कोई बोल रही हो कि ऐसा मत खाओ ऐसा मत करो ऐसा मत रहो जितना हम्म? उसकी समझेगी हम्म? इसी कारण से जिस बात स्वास्थ्य के कारण इंद्रियों के कारण किसी और किसी कारण से हम उसके विपरीत करते जाते संज्ञा के विपरीत आचरण करते हैं तो शारीरिक विपरीत हो जाते हैं तो अब ये शारीरिक लोगों के लिए अपने बहुत अच्छा पुस्तक जो है वो माथो निदान करके पुस्तक है बहुत अच्छी पुस्तक है वैदिक की पुस्तक आजकल पढ़ाई की जाती है जो वैदिक की कोर्स करते हैं उनको माधव निदान पढ़ाई जाती है ये माधव वही है कि पंचदशी के रचयिता विद्यालय में शामिल इनका नाम था पहले माधव माधव और साया ये दो भाई भाई थे सायन जिसे उन्होंने युगल की प्रभाष लिखा और इन्होंने माधव से तो इन्होंने जब विद्यारण शामिल हुए तब तो इन्होंने पंचदशी इत्यादि ग्रंथ लिखे लेकिन उसके पहले एक ही बड़े विद्वान थे तो इन्होंने वैदिक के ऊपर राजनीति के ऊपर जाकर के ऊपर कनिष्ठ सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए बड़े ही संतुलित और बड़े प्रामाणिक हैं जो अब तक जो है वो अपना महत्व स्थान रखते हैं जैसे वेदांत चंद्र पंचदशी देखा इतना सोच विचार करके इतना व्यवस्थित ढंग से ऐसा देखा कि उसकी उपयोगिता जो है वो जल्दी समाप्त करें उससे उत्तम कोई ग्रंथ आवे कोई तब वो पीछे पड़े मध्यम सीमा पड़ेगी तो उसका प्रकाश के जो व्यक्ति ऐसी माधव निदान पुस्तक जो वो हो बहुत सुंदर पुस्तक वैद्य की पुस्तक है उस माधव निदान के अनुसार कि जो लोगों लोगों के रोग क्या होते हैं तो उसमें यही बताते हैं कि रोग का कारण मुख्य कारण जो है प्रज्ञा अपराध फिर कहते हैं कि देखो प्रज्ञा अपराध के कारण से क्या होता है कि जो बात पित्त और तप ये जो तीन जैसे कि शरीर उनके संतुलित रहने पर शरीर में रोग नहीं होता शरीर चलता रहता है इनका संतुलन बिगड़ता है किसी एक का प्रकोप होता है वहाँ प्रकोप शब्द कहते हैं बात का प्रकोप हुआ है हाँ, तो बात का प्रकोप हो गया तब का प्रकोप हो गया तो जब जिसका प्रकोप होता है तब फिर वो रोग उत्पन्न करता है और फिर कभी एक के काम से रोग उत्पन्न एक प्रकोप करता है तब का प्रकोप किया तो कुछ रोग उससे होंगे और कभी कभी ऐसे हो सकता है चित्त और कप या बात और कप इस प्रकार दो दो प्रकोप करें तो फिर जरा रोग जो है वो हो जाता है उसको ठीक करना रोग को समाधान करना उपचार करना जरा मुश्किल पड़ता है और फिर अगर कहीं तीनों का रोग करें बात पित्त का तो फिर उसकी दवा खुले नहीं मिलती आपको तो बस अब स्थान पे तो दवा उसको देना और ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल था तो इसी को इसी तरह से कहते हैं कि यहाँ जो ये मोह सकल ज्ञात ज्ञापन कर मूला तिल पे कोई उपजय बहुत सूला उसके कारण से सब मोह के कारण से सिंह अनेक प्रकार के रूप जितने हैं ये मोह के कारण ही उत्पन्न होते हैं मोह शब्द तुलसीदास दो शब्दों में प्रयोग करते हैं अज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं और आसक्ति के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं तो जब व्यक्ति को अज्ञान हुआ मन परमात्मा का आत्मा का ज्ञान नहीं देहाभिमान रखते हुए सुंदर संसार को स्थिति विषय भोग इन्हीं में उसकी प्रीति है इन्हीं में उसकी आसक्ति है तो उसको हो गया मोह तो कहते हैं बस जब तक व्यक्ति परमात्मा ज्ञान नहीं है परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है भौतिक जीवन जी रहा है सही आभिमानी है जिसे आ सकते है तो ऐसा व्यक्ति जो वो हो अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है फिर कहते हैं कि काम काम बात तक लोग व्यापारा और और क्रोध चित्त में दिखा पी जा रहा जैसे वहाँ बात चित्त कप है वैसे यहाँ काम क्रोध और क्रोध ये तीन है अज्ञान के कारण से मोह के कारण से काम क्रोध लोग उत्पन्न होते हैं और फिर इनसे मानसिक रोग तमाम उत्पन्न हो जाते हैं ये निदान इस प्रकार के बताते अब तुलना कैसे करते हैं काम बात जो कामनाएं मन में आती है विषयों की कामना वो काम हुआ और वो बात के समान है और कप लोग है अपारा और जो लोग है वो कप के समान है और अपारा के मन जिसका तो कोई पार नहीं पानी नहीं चबाने क्या संकेत इस बात का है कि पानी जब तक तो शरीर अंत में छोड़ता है तो शरीर का समाप्त होता है जब तक की अधिकता होती है जब तक पेट में भी भर जाए और हाथ में भी भर जाए और छाती में भी भर जाए और वहां से भरते भरते कंठ में भी आ जाए और कंठ अवरुद्ध हो जाए तो बस फिर हताश हो जाए कब के पांच स्थान मानव दान बताए गए पांच हो गए हाँ, तो उसके पांच स्थल और सब इस प्रकार के शास्त्रों को तो ऐसा लगता है तुलसीदास जी को जो है वैद्य का जो रहा होगा महात्मा गांधी हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो बाकी उसी से तुलना करो तो बहुत मिट्टी जुटी बातें निकली जाती है तो बात काम बात का लोभ है अपारा और क्रोध पित्त से छाती जा रहा और जैसे किसी जब किसी से बढ़ता है व्यक्ति को तो जलन होती है तो वैसे भी किस प्रकार प्रकोप तो होने पर जानते छाती उनकी ऐसे क्रोध होने पर भी व्यक्ति की छाती जलती है दोनों में समानता दोनों की एक दिखाई देती है छाती में जलन क्रोध के कारण से होती है और स्थिति के बढ़ने से होती है और एक बात और भी है इसमें कि ये जो बात जो है अन्य तीन से बात के प्रकट में तो बात प्रथम है बात जो है मूवी है और ये जो है ये ये कप और जो कुछ है ये दोनों जल है इनमें मूवमेंट नहीं है तो ये बात जो है इनमें मूवमेंट नहीं पैदा करता है बात इनमें सबने इनको उत्पन्न करने में और इनका ऊपर नीचे बढ़ाने में चलाने में स्थान बदलने में ले जाने में अब जैसे कप बन गए जहाँ पैदा हुआ तहाँ पैदा हुआ लेकिन उस कप को बात ही कंठ मिलाएगा हाँ वहाँ इकट्ठा करेगा उसे तो ये काम जो है करता है जैसे कि बादल उठते हैं तो पानी को समुद्र के बादल हो गए लेकिन उन बादलों को पृथ्वी पर उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ कौन लाता है उत्पादन लाते हैं इस प्रकार से ये जो है ये कप और पितुल्य जहाँ कहीं उत्पन्न होते जहाँ उत्पन्न होते हैं लेकिन ये बात ही इनको ले जाता है शरीर के विभिन्न स्थानों में और वहाँ पर इकट्ठा करके इसका उत्पन्न कराता है इसी प्रकार से इसमें भी देखो काम भी एक ऐसा मुख्य रोग है जो उत्पन्न होता है तो फिर उसी से लोग और क्रोध भी उत्पन्न होते हैं उनका कारण नहीं बनता है यदि व्यक्ति में कामना ही न हो हाँ, तो लोग का ही प्रश्न नहीं उठता क्रोध का भी प्रश्न नहीं उठता ये सब नहीं होंगे तो इनका सबका दोनों का मूल कारण काम है तो ऐसे करके मिला करके देखो तो ही पता चलता है कि देखो कि किस प्रकार से इनका सबका संबंध किस प्रकार से एक मत ये भी है माथा निदान को देखने से पता चलता है उसमें से कि शारीरिक रोग जिस प्रकार बताए बताए कि कब बढ़ता है कभी कुछ बढ़ता है कभी कुछ बढ़ता है तो उसके कई कारण उन्होंने दिए रोगों के जैसे तमाम रोगों का वर्णन किया तो पहले ये बताते हैं रोग क्यों उत्पन्न होता है तो कभी तो बताया कि गर्मी से होता है सर्दी से होता है ऐसा खाने से होता है ऐसा पीने से होता है ये होता है लेकिन उसके साथ साथ कोई न कोई मानसिक कारण भी बताते हैं तो मानसिक कारण किस कारण से रोग होता है समस्त शारीरिक कारणों के साथ में मानसिक कारण का वर्णन माधव गांधी तो जैसे कि बताए कि जैसे मान लो किसी को ये काम या क्रोध है या लोभ है जिसकी अधिकता होगी तो उसके कारण से जैसे क्रोधी व्यक्ति होगा तो उसका पित्त बढ़ेगा क्रोध भी पित्त बढ़ाने वाला है केवल तुलना तुलना नहीं है दोनों का एक दूसरे से संबंध भी है मानसिक रोग होगा क्रोध तो शारीरिक रोग में पित्त उसका बढ़ेगा पित्त के बढ़ने से जो बीमारियां होती है उसको अनुभव में आएंगे ऐसी बात के कारण से जो रोगी रोगी उत्पन्न होने वाले हैं वो बात जब व्यक्ति में नाना प्रकार की कामनाएं होंगी और कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी कुंठित कामनाएं होंगी तो वे फिर कुंठित कामनाएं उसके शरीर में बात रोग उत्पन्न करेंगे इस प्रकार की व्यवस्था काम बात का लोभ है अपारा अक्रोध चित्त में छाती धारा और प्रीत करे जो तीनों खाई उपजय पाप दुखदाई तो तीनों प्रीत करे माने मान लो कि तीनों भाई है भाई वैसे तो बोलते हुए है तो प्रीत करेंगे तीनों भाई से भाई मैंने किसी को बोल रहे हैं उसको भाई कह रहे हो लेकिन एक भाई के साथ पर ये भी है कि तीनों भाई भाई काम को ये काम को लोग किसी बात को पिता तीनों भाई और तीनों भाई रोग उत्पन्न करने वाले तीनों अगर शांत बैठे रहे तो तो तीनों बहुत शांत बैठे तो कोई शरीर में रोग नहीं अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थान शांत है और जहाँ एक ने भी उपद्रव उत्पन्न किया तो रोग उत्पन्न होने लगे और दूसरे ने दो उपद्रव किए तो भयंकर रोग उत्पन्न होने लगे और तीनों उपद्रव करने तीनों भाई उन्हें का लग जाएगा तो शरीर में संपात उत्पन्न होगा भयंकर रोग उत्पन्न हो जाएंगे ऐसी काम लोग तीनों किसी व्यक्ति ने अब कभी कभी लोगों में देखा जाता है तो तीन में से किसी में काम की प्रबलता होती है किसी में क्रोध की प्रबलता होती है किसी में लोभ की प्रबलता होती है कभी कभी लोभी व्यक्ति को देखा जाए लोभ तो बहुत होते लेकिन क्रोध नहीं आता उसको अपने लोभ को सिद्ध करने के लिए अपने क्रोध को दबाए रहता है एक दुकानदार है वो जानता है कि जितने ग्राहक आएंगे उतने फायदा होगा अब कहा था करके दुकानदार को तमाम गाड़ियाँ देता है नाराज होता है तुमने क्या दे दिया और तुम दिया तुमने क्या ले लिया क्या ले लिया तो उसके बदले में दूसरा कोई तो तुमको क्रोध करने लगे लड़ने लगे लेकिन वो लड़ेगा नहीं जल्दी हाँ? लगेगा लोग की प्रबलता देता है हम्म? वो सोचेगा कि जब कम लड़ जाएंगे तो ये तो आएगा नहीं है हाँ? और फिर दूसरे और जो चार लोगों से कहेगा वो भी हमारे सरकार में जाएंगे इसलिए क्रोध नहीं तो कोई कोई लोभी व्यक्ति जो लोभी होगा वो लोभ तो की प्रबलता किसी हो सकती है किसी में क्रोध की प्रबलता हो सकती है किसी में काम की प्रबलता हो सकती है ऐसे व्यक्ति होते हैं लोग और उनको जो जिसकी प्रबलता जिसमें होती है उसी के प्रकार के मानसिक रोग भी उन व्यक्तियों के होते हैं अपने अपने प्रकार के मानसिक रोग लोगों को होते हैं इसी प्रकार के शरीर के डॉक्टर जब वैज्ञानिक लोग जब देखते हैं तो कहते हैं भाई देखो इसको तो ये तो कब प्रधान व्यक्ति है इसमें बात प्रधान है जब देव पर नारी देव पर बताएंगे तो कहते हैं कि बात प्रधान है उसको बात में होंगे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता नहीं है तो हो भी सकता है ऐसे अच्छा, बता देंगे की प्रधानता किसी व्यक्ति में है तो कभी उसको तो कभी स्वभाव उसका है उसके कारण से कब से होने वाले जो रोग है वो इसको हो सकते हैं तो जैसे व्यक्तियों के स्वभाव बातचीत कप इनके अनुसार होते हैं अंग्रेजी में इनको ह्यूमर कहते हैं तीन टाइप के गुण तो जैसे होने वाले जो है व्यक्ति के तीन प्रकार के व्यक्ति जो स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं इसी प्रकार के काम के लोग इनके अनुसार भी तीन प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तीनों जो विनाशक लोग जो पीड़ा वाले शक्त वाले तीनों भाई अगर करते हुए तो, तो, जीव को जो है हलाकान कर देते हैं परेशान कर देते हैं तो कहती तो जो तीनों भाई उपदेश में पाप तो विषय मनोरथ दुर्गम नाना अब ये तो रसूल नाम को जाना अब देखो सूल क्या है पीड़ा पहुँचाने वाले कौन है इसके तो दूसरे मनोरथ विषयों के जो मनोरथ है वो दुर्गम कि मन विप्राप्त नहीं हो सकते नाना मैंने बहुत है तब विषय क्या है पांच ज्ञान इंद्रिया हम जो शब्द पर पांच विषय है तो पांच विषयों में हर विषय का तो अनेक प्रकार अंतर भेद है हम्म? जैसे शब्द है उसके प्रकार अंतर भेद है स्पर्श उसके प्रकार अंतर भेद है रूप है उसके प्रकार अंतर भेद है तो एक एक विषय के तरह अनेक रूप है वो सब तो इसके कारण कहते हैं कि नाना रूप है उनके सबके और जितने विषय है सबको हर जगह व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते इसलिए वो दुर्गम भी लेकिन जब प्राप्त नहीं हो सकते तो व्यक्ति क्या करता है अपने मन में उनकी मनोरथ करता है बैठे बैठे अगर ऐसा ऐसा मिल जाता तो अच्छा रहता ऐसे ऐसे करके ये है दूसरे लोगों के पास ये ऐसा हमको हो जाता तो अच्छा है तो बस उनके जैसे जैसे अपने मन में जो कल्पना करता है और मानसिक उनको उनकी अच्छाइयाँ देखता है उनके गुण समझता है उन्हें और उनको प्राप्तव्य अपने मन में मानता है ऐसे करके समझता है कुछ दिनों के बाद फिर वही उसके मनोरथ इन विषयों में आसक्ति उत्पन्न कर देते हैं और आसक्ति उत्पन्न होने पर फिर वही उनके प्राप्त करने के लिए उसे विवश कर देते हैं फिर वो लग जाता है जितना उनको प्राप्त करने के लिए पिता कोशिश करने लगे अब जीता वाला जो तो करके देख लो मनोरथ से शुरू होता है ध्याते विषयान पुरुषा इनको जो है विद्यारायण स्वामी ने ध्याते विषयान पुरुषा को मनोरथ कहा ये मनोरथ है ध्याते विषयान पुरुषा संघर्ष से टूट जाए तो, तो पहले व्यक्ति विषयों का मनोरथ करता है और फिर उनमें संगत जाते तो मैंने उनमें आसक्ति उत्पन्न होती और फिर उनसे जो है उनके प्रति कामना उत्पन्न होती ये क्रम इस प्रकार होने लगता है आखिरकार तक विनाश की तरफ बढ़ता जाता है तो ये मानस रूप इसी तरह का तो विषय मनोरथ दुर्गम नाना ये विषय का तो प्राप्त होना सब विषय प्राप्त होना बड़ा दुर्गम है और नाना है ये तो सब सूर्य नाम को जाना ये सब सूर्य पैदा करने वाले पीड़ा पहुंचाने वाले कष्ट देने वाले हैं बस अब जिसका मनोरथ जिस विषय का मनोरथ करेगा प्राप्त होगा ना प्राप्त नहीं होगा तो हृदय में उसको सूर्य होगा पीड़ा होगी यही तो मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं प्राप्त हो रहा मैं कैसे प्राप्त करूँ बस इस बात का जो सुशील होगा उसको सुन कर ममता का विपंड ईर्षाई अब कहते हैं देखो और बहुत से रोग पैदा होते हैं जैसे तो ममता जो है फिर पैदा होती है उसको जो ममता पैदा होती है वो दाद की तरह से दाद के समान ममता और ईर्षा जो है वो हो कंद रोग की तरह से कंद के मैंने खाद एक है खाद और एक है दाद दाद खाद ये जो कर्म रोग होते हैं तो दाद और खाद में थोड़ा अंतर है साफ जहाँ होती है तो उसके कारण एक रिंग बन जाता है छोटी छोटी खिड़कियों खींचे जाता गोलाकार बन जाता है और बीच में सेंसिटिव हो जाता है वहाँ पर कि किताब होता पानी भी निकलता है तो ये दाल हो जाती है और जब खाद होती है तो उसमें नहीं बनती है लेकिन भी उसमें लगती है चमड़ी में उसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ हो जाती है तो खाद होती है तो ये दाल खाद दोनों धीरे खुजलाने में एक और तो अच्छी लगती है और दूसरी ओर जलन पैदा करती है हम्म। कष्ट भी देती है बाद में बहुत जल्दी पैदा जब होती है इस प्रकार से ममता जो है वो अच्छी तो खूब लगती है हाँ? लेकिन वो कष्ट बहुत देती है जहाँ जहाँ ममता होगी ममता मैंने मम से ममता मेरापन ये मेरा ये मेरा ये मेरा जहाँ जहाँ मेरेपन का भाव हुआ वहाँ ममता खाद की तरह से अच्छी लगेगी दाद की तरह से अच्छी लगेगी लेकिन दुखदाई भी होगी ऐसी जीविका जो है वो भी व्यक्ति जीविका करेगा तो वो भी उसके खुजली की तरह से उसको जो है बार बार खुजलाहट होगी ईर्षा के माना ये है कि किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने देखा कि उसके पास संपत्ति धन इत्यादि है तो जो हम चाहते हैं हमारे पास नहीं दूसरे के पास है तो कहते हैं व्यवहार भी कहते हैं देखो जहाँ किसी दूसरे को देखते तो उनके मन में खुजली होने लगती हाँ? है खुशी होने लगती है माना ये इनको लगने लगता है मेरे मन में क्यों नहीं मैं कैसे प्राप्त कर लूँ ये जो खुजलाहट अपने भीतर है जो ये पैदा होती है कहीं कहीं इस प्रकार से आते हैं कहते ममता दाद कंड वीरशाही और हर्ष के साथ ग्रह बहुताई और कहते हर्ष के जो ये भी ये भी रोग है बहुताई मैंने बहुत तरह के रोग है और बहुत अधिक होता है ये गर्व माने गले के रोग गले के माने अब गले के रोग तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं तो उनमें कोई भी रोग मान सकते हैं लेकिन एक जो है वो हो कंठमाला करके एक रोग होता है गले में कोई खुर्जा हो जाती है एक बाद एक चार तरफ तो उसको जो है वो हो ग्रह रोग करके माना गया है इस अधिकांश लोग यही मानते हैं ग्रह माने कंठमाला जैसा रोग हो गया भीतर तक एक गहरे तक हो जाता है बड़े मुश्किल में ठीक होता है तो ये कहते हैं ये क्या है ये कहते हैं हर्ष विषाद तो देखो हर्ष जो है और विचार जो है ये है कोई अच्छी चीज नहीं हम लोग संसार में ये समझते रहते अज्ञान के कारण से कि जब विचार तो अच्छा नहीं है दुख है लेकिन हर्ष तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन हर्ष भी अच्छी नहीं हर्ष में तो रोग है जैसे विषाद एक रोग है वैसे हर्ष भी एक रोग हर्ष विषाद जरा जरा की बातों में व्यक्ति को हर्ष विषाद होता रहता है जरा से किसी ने कोई व्यक्ति जो है वो किसी को थोड़ी सी मिठाई हाथ पर रख दी हर्ष हो गया किसी हाथ में कोई चीज जरा से छीन ली तो दुख हो गया किसी ने सीधे से देख दिया तो हर्ष हो गया किसी ने पेड़ों से देख दिया तो विषाद हो गया तो क्षण क्षण हर्ष विषाद जैसे कोई मुदर्रस हो वो दिन एक व्यक्ति बताया मुदर्रस के माने क्या है तो युद्ध और रिस्क जो क्षण भर में मुद और क्षण भर में रिस्क उसका नाम मुदर्रस लड़के ने जरा गड़बड़ कर दिया खड़ी ऊपर मारने लगे गुस्सा गए पत्थर भर गया अपने खत्म हो गया अब तक खड़ा मिले मुद हो गया तुम हो तो घर में संस्कृत सने पुस्ता पुस्ता पुस्ता सने ये कोई मन कोई नहीं तो कहते हैं मानसिक रोग है जब मानसिक रोग होता है तो व्यक्ति में हर विषाद इस प्रकार से होते रहते हैं ये जो भी है हर्ष विषाद ये सब रोग है और परसु जगन सुई छई और पर सुख देख दूसरे व्यक्ति को सुखी देख करके जो हृदय जमने लगता है व्यक्ति का तो उसको कहते हैं क्षय रोग क्षय रोग क्षय रोग मन क्षय रोग हाँ, क्षय रोग मन राज राज रोग समझो राजस्थमा या इस प्रकार का रोग क्षय रोग टीवी देखा ये तो कुष्ठ दुष्टता मन कुछ नहीं हाँ, और दुष्ट स्वभाव और मन की कुटिलता ये क्या है ये कोण है कुष्ठ रोग है कुछ रोग होता है तो हाथ पैर गलने लगते हैं पैरों में गर्व हो गया कुछ लोग उंगलियां गलने लगी नाखून गलने लगे हाथों में हो गया हाथ गलने लगे कुछ लोग भी दो प्रकार का होता है एक बहने वाला होता है एक श्वेत होता है तो दो प्रकार के कुछ लोग होते हैं इसी प्रकार से ये जो है एक दुष्टता और मन की कुटिलता ये नाम दे दिए दुष्ट स्वभाव है तो भी कुष्ठ रोगी है और जो है कुटिल स्वभाव है तो भी वो हो तो भी भी ये दोनों कोण है कुटल स्वभाव भी कोड़ी और दुष्ट स्वभाव भी कोड़ी कोड़ के समान ही दोनों अहंकार है कि दुखद डमरुआ और कहते अहंकार जो वो हो डमरुआ रोग की तरह और अहंकार रोग और डमरुआ रोग भी मिलते जुलते हैं दोनों एक प्रकार डमरुआ रोग के माने जोड़ों के दर्द पैरों में जोड़ों में दर्द होने लगा हाथों के जोड़ों में दर्द होने लगा कमर में दर्द होने लगा जितने जितने जहाँ संदेश स्थल है अस्थि संदेश स्थल उनमें जो पीड़ा जो है वो डमरुआ रोग कहलाता है अब ये डमरुआ रोग जब होता है तो व्यक्ति का उतना पोर्शन अकड़ जाता है अकड़ जाता मैं मतलब झटका नहीं अगर कमर में ही उसका हो गया वो डमरुआ हो गया मैंने मतलब अकड़ गया कमर है तो छुपे तो छुप नहीं सकता अब वो सीधा सीधा अकड़ा सकता है सफल पैरों में अगर दर्द हो गया उसी प्रकार के तो पैर नहीं झुकेंगे पैरों को पत्ता ऐसा पैर लकड़ी ऐसा पैर ये कभी चलेगा तो जैसे अहंकारी व्यक्ति होता तो अकड़ जाता है अहंकारी जब बड़े अकड़ दिखाते हो तो अहंकारी व्यक्ति में अकड़ आ जाती है तो जैसे उसका मन में अकड़ आ गई उसकी तो शरीर में भी अकड़ आ गई इस प्रकार से जहाँ ये रोग हो गए जबरुआ रोग हो गया तो बस उसके उसके कारण से जो दोनों एक जैसे हैं दोनों में अकड़ है एक में हड्डियों की अकड़ है करता है उसमें दूसरे मन की अकड़ है कि तो दोनों समान अहंकार अति दुखद कबरुआ ये बड़ा दुख देने वाला रूप है और दम्भ कपट मन माद में रुआ और दम्भ कपट मद और मान ये चार रोग एक साथ बता दिए ये चारों जो है नहुआ रोग नहुआ क्या होता है ये नशों के रोग साइकिल का जैसे ये होते नशों में जो दर्द होने लगते हैं अनेक प्रकार के रोग नशों में होते हैं जगह जगह वो सब जितने दम है कपट है मन है माद है मद है मान है ये सब जो है इस प्रकार के उनके लोगों की तरह से वाले कृष्णा उदर प्रति भारी हाँ? कृष्णा उदर प्रति एक बढ़ गया तो उदर प्रति उदर प्रति चले उदर में तो उदर प्रति बहुत हो जाती है इसमें तो पानी हो गया तो बस वो पेट बहुत पकड़ा जाता है निगाड़ा हो जाता है तो और वैसे भी व्यक्ति की गिनती जो पेट ज्यादा बने हैं तो वो भी कष्टकार है तो वो भी गुड़ गई है ऐसा थोड़ी है किसी बड़ा पेट है जो बहुत अच्छा लगता है बड़ा सुंदर को बड़ा अच्छा करते ज्यादा बात थोड़ी होती रोग है तो इसी तरह उधर बद भी कसना है और कसना भी ऐसे करते जब तो उधर बद जैसे कसना होती है किसी व्यक्ति को तो जिसकी कसना बहुत होगी मैंने सामना बहुत होगी कारण इसकी बहुत कसना है तो दूसरे दीवार में क्या बोलते हैं अरे साल का बड़ा पेट है बड़ा पेट क्या है जल्दी तक होने वाला नहीं बहुत खाने वाला बहुत खाने वाला नहीं उसकी कामनाएं बहुत जब बहुत उसको मिले सब्जी भी प्रत्यक्ष नहीं होती इसलिए कृष्णा और उदर बुद्धि दोनों एक जैसे हैं इसलिए उनको बता दिया कि कृष्णा भी एक रोग है और ये पेट का अति भारी ये भी बहुत भारी रोग है और तभी देखिए इसमें करुण तैयारी और तैयारी मैंने बुखार तेजारी बुखार तेजारी मैंने अतरे दिन आता दूसरे दिन आवे तीसरे दिन आवे ये जो बुखार आते हैं ये तेजारी बुखार करे तो कभी भी सुना कभी भी सुना मैंने लोकेशना भुत्ते वित्तेषणा पत्रेषणा ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं मैंने प्रबल कामनाएं कामनाओं में भी तीन प्रबल कामनाएं सबसे बड़ी प्रबल कामनाएं तीन है सुख वित्त हाँ, हाँ, ये जो कृष्णाएं हैं कृष्णा और विश्लेषणा लोकेशना लोकेशना मैंने विश्लेषणा ये तीन प्रकार की वेशनाएं ये राम राज्य ने कहा ये सब तीन प्रकार की है राम राज्य ने किसी को नहीं तो खरीद वेशना तो करण पुजारी ये करण पुजारी के मैंने तो ये शुरू शुरू में जब ये आते हैं तब इनमें बहुत जोर के आते हैं जैसे बुखार जब आना शुरू होगा तो ज्यादा देकर के आएगा होगा तो सभी लगेगी होगा कष्ट होगा शरीर में तो ये कर्म पूजा भी कहलाती है और फिर धीरे धीरे करके फिर कुछ दिन होते हैं फिर दब जाता है तब उतना पेट नहीं रह जाता इसलिए कृष्णा तीन प्रकार के कृष्णा तिजारी बुखार की तरह से एक तो बुखार ये है बुखार की तरह से होते हैं इसलिए एक तो तिजारी बुखार को अदर वाला बुखार भी कहलाता है तो ये भी माधव निदान में कई प्रकार का है कि एक दिन आवे और उतर जाए दूसरे दिन आवे फिर उतर जाए तीसरे दिन आवे फिर उतर जाए एक तो ऐसा बुखार एक बुखार ऐसा दिन आया और उतर गया दूसरे दिन नहीं आया फिर उस दिन की छोड़ करके फिर अगले दिन आया और फिर एक दिन नहीं आया फिर एक दिन आया और फिर कोई कोई ऐसा होता कि एक दिन आता फिर दो दिन नहीं आता फिर तीसरे दिन आ जाता फिर उसके बाद दो दिन नहीं आता फिर तीसरे दिन आ जाता इस प्रकार से सूर्योदय बुखार इस प्रकार से आते हैं तो उन्होंने तो एक दिन वाला दो दिन वाला तीन दिन वाला चार दिन वाला इस प्रकार से बताए इनके प्रकार अंतर गए ये सब इसी प्रकार की पुजारी जो ये सब कहलाते हैं इस प्रकार के होते हैं फिर आगे कहते हैं जुगल जुगर मत्सर आदि देखा फिर उन्होंने दो प्रकार के बुखार और अलग बताए तो दो प्रकार के बुखार होते हैं एक बुखार जो होता है वो हो माहेश्वर बुखार होता है एक बुखार होता है वैष्णव बुखार होता है दो प्रकार के बुखार माँ को निदान ये बुखार दोनों प्रकार के जब वो हो तो ये उनका कारण प्रकार जारी ऐसे नहीं है ये बुखार जो आते हैं तो बदल देते हैं उतरते तो नहीं उतरेंगे तो फिर सात दिन आठ दिन दस दिन के बाद न्याजी बुखार जैसे आते हैं तो वो न्याजी बुखार अलग प्रकार का बुखार है हैं मियादी बुखार होता है तेज बुखार बना रहता है एक मियादी बुखार ऐसा होता है तो बहुत हल्का हल्का होता है और महीनों बना सेकंड महीने बना रहता और चालीस की दवा जो उतरते नहीं छुटता नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बना ही रहता है तो इस प्रकार के दो प्रकार के ये अलग से बुखार बताए गए तो कभी जुग विध में दो प्रकार जुग विध जल मच्छर अभिवेका ये मच्छर और अभिवेक भी दो प्रकार के जो है मच्छर के मन भी ईर्षा है दूसरे को जो है वो उसको देख करके बड़ाई लाभ इत्यादि देख करके जब मन में उसके प्रति दाह उत्पन्न हो जन्म पैदा हो तो मत्सर और अभिवेक मन विचारहीनता जो व्यक्ति की है विवेक का न होना अभिवेक तो ये ये भी सब मानसिक रोग है कहाँ लगे कहो रोग अनेका इस प्रकार के बहुत से मानसिक रोग है उनको कहाँ तक वर्णन करें ये कुछ रोग बताए जिनके जो शारीरिक रोगों से तुलना करके बता दें वैसे और बहुत से रोग हैं शारीरिक रोग से तुलना न भी करो तो भी और बहुत से छलछल में पाखंड दम बारी मैंने कितने प्रकार के और भी हैं शादी साथ तो सबका बढ़ने में करी दिया इस प्रकार तो ये सब नाना प्रकार के मानसिक रोग बहुत प्रकार के अभी कहते हैं इनके इतने प्रकार के उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए तो कहते हैं एक व्याध बस नर मरें एक असाध बहु व्याध तो जैसे ऐसा नहीं लोगों में कोई एक ही रोग लगता हो अरे एक किसी व्यक्ति में देखेंगे एक एक तो व्यक्ति में दस दस बीस बीस मानसिक रोग तो कहते एक व्याध बस नर मरे लोग बात तो संसार में कैसा होता है कि एक व्याध हो जाती तो मर जाते एक ही लोग मर जाते और ये असाध्य बहुत व्याध ये तो असाध्य बहुत ही व्याध असाध्य तो नहीं इनकी ठीक होना मुश्किल है जिनको असाध्य इसलिए कहा कि अपने आप